दूसरे मिथुन को पैदा किया क्या है वो मिथुन क्या है वो जोड़ा रईंच प्राणंच एक का नाम रई है दूसरे का नाम प्राण है सृष्टि के साधनभूत रई और प्राण इन दो को अर्थात मिलाकर एक जोड़े को उसने उत्पन्न किया वो रही क्या प्राण के विस्तार से आएगा यदि ये तो क्योंकि वो जान लिया यह सोच करके उसने किया थी मैंने यह सोच कर उसने किया कि ये तो मैं ये दोनों के दोनों ही मेरी जो बहुत प्रकार से होने वाली प्रजाओं को उत्पन्न करने में सक्षम उत्पन्न करेंगे बहुधा प्रजा करिष्यंत थी तस्मा एवं पृष्ठवते सहोवाच इस प्रकार के पूछे हो जाने पर वह प्रहलाद महर्षि जी ने कहा तद अपाकरण ही आह उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ही कहा क्या प्रजा काम प्रजा मैंने आत्मन सुश्रुक्षोर वही प्रजापति क्योंकि आत्मन सुश्रुक्षो स्वस्वरूप से ही सृजन करने की इच्छुक है उसके बाद अलग कोई मटेरियल नहीं है बाहर का कोई वस्तु को उसे कुछ करना नहीं है इधर आत्मन ये प्रजा रूपेण सुश्रुक्षोर वही प्रजापति सर्वात्मा क्या है वो सर्वात्मा ही है सन जगत सुरक्षा सर्वात्म भाव से मैं इस जगत को सृष्टि करूं इस भाव को लेकर के इतम ज्ञानवान इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान वाला होकर के यथोक्तकारी तत्भाव भावित दो निर्वृत हिरण्य गर्भ यथोक्तकारी इस कल्प के आदि में ज्ञान कर्म समुचय कार्य तो कार्य बने एतारस ज्ञान और जो कर्म ज्ञान सर्वात्म भाव को होना एक जो था वह सर्वात्म भाव को होना एक कर्म है और ऐसा होने के लिए आवश्यक साधन को ज्ञान मतलब ज्ञान के बिना कैसे करेगा ज्ञान के बिना क्रिया नहीं हो सकती कर्म नहीं हो सकता इसलिए कार्य का मतलब है ज्ञान कर्म इन दोनों वाला ज्ञान कर्म समुच्चयकारी नीचे टिकाना यथोक्तकारी तद भाव भाविता मैंने प्रजापति रहा सर्वात्मा एवं हम ऐसे भावना तद भाव ने प्रजापतित्व के भाव से भावित होकर के प्रार्थना कार्य जो प्रजापति भाव था मैंने पूर्व कल्प में उसने आज हिरण्य गर्भ बनना है जिसे उसे क्या कर किया हुआ है ना वो सब कुछ कहा है आत्मा की आवरण का माया में ही सकल जीव विराजमान है एक कल्प समाप्त हुआ है दूसरे कल के आरोप के बीच में वो सब कहा रहेंगे अज्ञानी हो चाहे उपासक ज्ञानी आदि हो जो भी अगले कल में जन्म लेने योग्य है मैंने अमुक्त पुरुष जितने भी है वे सब माया में अविद्या में ही छिपे हुए हैं इसलिए जब काल रूपी क्षोभक बारम्बार भागवत में है इसलिए काल ही क्षोभक है कल्पोत्तर उत्पत्ति का काल जब हुआ उस आत्मा में विद्या का आवरणीभूत माया में एक क्षोभ पैदा हुआ और हलचल हुई जिसको योग वशिष्ठकार बार बार स्पंद स्फुरण ये शब्द प्रयोग करते आप योग वशिष्ठ पढ़े नहीं सुने नहीं दो चार तो सुने ही नहीं वो योग वशिष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए यदि आप मुख्य हैं तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना मोक्ष को पढ़ना है बाकी जिसको संसारी बनना है या जगत का परिपालन करनी है धर्माचारी बनना उसी योगाचर की क्या जरूरत अब आसन बाजी करने उपयोग आ जाएगा थोड़ा बहुत है कि नहीं कुछ श्लोक कुछ हिस्सा ज्ञान की सब भूमियों का वर्णन बहुत सुंदर आया है वो सबको लेकर करके अपना बढ़िया कथा प्रवचन तो कर ही सकता है उसके लिए सिर्फ पढ़ो जरूर एक बार योग वासित पढ़ने लायक ग्रंथ है उसमें ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट क्योंकि तो भाषी जैसा ना व्याख्या बहुत लंबा छोड़ा व्याख्या है जो यहाँ सूक्ष्म कह देते हैं अब कह दिया तक भाव भावित भाषिकार भाव भावित कार तो क्या होगा तो इन्हीं चीजों में स्पष्ट रहा अन्य ग्रंथों स्त्र ग्रंथों में मिलेगा स्पंदन होना स्मरण होना वो भाव मैं जो एक आत्मा शुद्ध ब्रह्म इस माया को लेकर अब सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाऊं ऐसी जो भावना ऐसा एक स्पंद स्फुरन एक संकल्प उसके अंदर हो गया तब जाकर के क्या किया उसने कदे सर्वात्मा जग सुरक्षा भाग कल्पादो निर्वृतो हिरण्य गर्भ तो कल्प के आदि में हिरण्य गर्भ राम से आद्य पुरुष नाम से प्रथम मज नाम से पैदा हो गया प्रथम चीज हिरण्य गर्भ सृज्यमान प्रजानाम स्थावर जंगमान पति वो हिरण भी क्या है सृज्यमान जो प्रजा स्थावर जंगम है इन सब का वो पति सन जन्मांतर भाविदम ज्ञानम स्पष्ट पूर्व कल्प में इस पद प्राप्ति के अनुरूप उसके द्वारा कर्म उपासना किया गया था अतएव जन्मांतर में भावित जो ज्ञान है श्रुति प्रकाशितार्थ विषय ये श्रुति से में प्रकाशित पदार्थ विषय ज्ञान तप तपोन विषय तपो अन्वालोचयत अतप्य था वह तप की जो है तप के मैंने अनवालोचित अतप्यता मैंने अनवालोचित वह इस प्रकार के चिंतन किया स्थावर जन्मांतर भावित ज्ञानम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय तप अनुआलोचित मनाता अथ तू स एवं दवस्तवा तदनंतर वह हिरण्य गर्भावरूपी प्रजापति इस प्रकार से पूर्व जन्मादियों में किए श्रुति प्रकाश तत्व विषय का चिंतन करने के बाद सकल जीवों के कर्म तत्फल उपभोग के अनुकूल सृष्टि आरंभ करने के लिए ध्यान करने के पश्चात श्रोतम ज्ञान मर्वालोच्य शौद ज्ञान का आलोचन करने के पश्चात सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पादित सृष्टि का जो साधन भूता मिथुन है जोड़ा है उसको उसका उत्पन्न करने के लिए कार्य किया क्या कार्य किया मिथुन का मतलब मिथुन द्वंद्व उत्पादित द्वंद्व का उत्पादन किया श्री पुंसो मित्रो मित्रम द्वंदम अमर कोश कारण का है अथवा द्वंदन तो बोल कलह युग्म युग्म को पैदा क्या है वो युग्म रही प्राणच रही मैं सोमम अन्नम सो चंद्रमा और उसके द्वारा वर्षा उसकी जो अमृत वर्षा से उत्पन्न अन्न स्थान क्या है अग्नि मत्तारम वही सूर्य है अग्नि है और सबको खाने वाला है एक सोम यही अग्नि और सोम है यही तो क्या है अग्नि और सोमो अत्रन्न भूत अत्रि और अन्न खाने वाला और खाने योग्य पदार्थ रूपों को प्राप्त हुए ऐसे में मम बहुधा अनेकदा प्रजा करिष्यत ये दोनों के दोनों जो है मुझे बहुत प्रकार के प्रजा रूपेण कर देंगे इतम संचिंत इस प्रकार का संचिंतन सम्यक प्रकार का चिंतन करके ध्यान करके अंडोत्पत्ति क्रमेण सूर्य चंद्रमसौ अकल्पय ब्रह्मांडोत्पत्ति क्रम से उत्पत्ति क्रम वही रहेगी सीधा बने कहा सूर्य चंद्र उत्पन्न हो गया इसका मतलब यह नहीं कि सीधे टपक गए और तो वही चलेगा तस्मात तस्वीर आकाश संपूर्ण आकाश आदवायु वायु और अग्नि यही क्रम से पहले जो है ना अपंचीकृत पंचमाभूतात्मक सृष्टि फिर वंचीकृत पंचम उसके द्वारा करण वगैरह सारा हो गए हाँ अपंचीकृतों का भी सामान्य सम्मिलित कार्य और जो है विष्टि कार्य जो बताया गया इंद्रिया है इसे सब कुछ उत्पन्न हो गया उसमें का पंचीकरण पूर्वक यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके अंदर स्थावर लिंगम सब पैदा करेगा शरीरों को उसमें प्रवेश करेगा इस प्रकार से सूर्य चंद्र में सारे उपाधियों की उत्पत्ति होती है वही क्रम है इसलिए कह दिया अंधोत्पत्ति क्रमेणा सूर्य चंद्रमा सऊ अकल्पयत सूर्य चंद्रमा भी उसने उत्पादन किया आदित्य हो वही प्राण रही रे चंद्रमा त्रैर्वा एक मूर्त मूर्त च मूर्ति रही तस्मात् हो आदित्य वही प्राण निश्चित रूप से ये जो आदित्य दिखाई दे रहा है यही प्राण है भोक्ता अग्नि है और ये जो दिखाई देता हुआ चंद्रमा है यही रही है यह सब जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म है एदम सर्वम यन मूर्त मूर्त यह सब कुछ जो कुछ मूर्त मैंने स्थूल अमूर्त मैंने सूक्ष्म ये सारा क्या है रही रही ही है माने ये जो हम मूर्त और अमूर्त भाग भोक्त और भोग्य रूप सृष्टि में अनुभव कर रहे हैं सारा वास्तव क्या है अन्न ही है चंद्रमा ही है रही है अगर मूर्ति ही रही है अस्मात मूर्ति रहेगा रही मूर्त भाव को प्राप्त होने का नाम ही दे रही है ब्रह्मांड विधि अहम वैश्वान रुपुत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विधम वही वैश्वान होकर के इन प्राणियों के देह में आश्रित होकर प्राणापान आदि नाम से प्रसिद्ध होता है और सभी प्रकार के जो अन्नों को पचाता है मैंने प्राण ही अग्नि रूप है अग्नि रूप होकर के अंदर प्रविष्ट है वही अन्न को पहुंचा रहा है इसलिए वही सब ज्ञान का आत्मा है तो आदित्य वही प्राणो अत्ता अग्नि गदे जो आदित्य है वही क्या है प्राण है वही अत्ता है वही अग्नि रही रे रेव चंद्रमा रही रेव अन्नम सोम रही अन्न है और अन्न आता है सोम से तदेत एकम वत्ता छन्न इसलिए वह एक ही था कौन प्रजापति एकम प्रजापति अकेला जो था वो क्या हो गया एक ही होते हुए अत्ता और अन्न उभय रूप को प्राप्त कर गया मिथुनम प्रजापति ही एकम तो मिथुनम जो एक था वो मिथुन भाव को प्राप्त कर गया दोनों से जो लगता है वही अत्ता वही अन्न कारण ये गुण प्रदान कर दो भेद गौण प्रधान भाव से एक प्रजापति ही दोनों भाव को प्राप्त कर गया जब आपने चैतन्य भाव को प्रधानता रख लिया वहा वह अत्ता हो गया और जब आपने प्रकृति भाव माया भाव जो सगुण त्रुणात्मक भाव को लेकर के चला वो अन्न हो गया कथम उसको समझा रहे हैं रईरवा अन्नम वा एक सर्वम रईर्वा मैंने अन्नम वा एक सब कुछ या तो अन्न ही है क्या किम तक इन मूर्तम च स्थूलम च अमूर्तम च सूक्ष्म जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म मूर्ता मूर्त अन्न रूप मूर्ता मूर्त स्वरूप वाला अत्रि अन्न भाव में विभक्त होकर दिखाई दे रहा है यह वास्तव में रही है तस्मात प्रवीण भक्ता अमूर्ता यद अन्य मूर्त रूप मूर्ति सैव रही अमूर्ते नद्यमान फिर भी जब विभाग हो ही गया एकत्र भाव अनुभाव यद्यपि अन दोनों ही रही अलग नहीं है उसके बावजूद भी प्रविभाग को तो देखते हुए चेतन और जड़ विभाग को देखते हुए उस अमूर्त से अन्य जो मूर्त रूप है स्थूल रूप है जो रूप है अद्यमान होने के नाते उसी को हम रही कहेंगे उसी को चंद्रमा कहेंगे उसको प्राण या आदित्य नहीं कहेंगे वही कहते तस्मात प्रविभक्ता अमूर्ता प्रविभक्त हो गया हुआ जो अमूर्त उससे जो यद अन्य जो दूसरा था क्या मूर्त रूपम उसी को यहाँ कहा मूर्ति ही सही रही अमूर्ति नद्य मानत्वा वही रही है क्यों अमूर्त के अंदर वो खाने योग्य अमूर्त कौन है अत्ता वही प्राण है वही आरित प्राण ही आरित है ऐसा जो है उसके अंदर अध्यमान होने के नाते मूर्ति मात्र को वही कह दे रहे हैं यद्यपि जो मिथुन भाव अत्यंत भाव दोनों एक प्रजापति का ही है एक ही अत्य का है वही अन्य रूप है ये दोनों के दोनों होते हुए भी प्रभाव के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है अमूर्त की अपेक्षा से मूर्त मात्र को अन्न शब्द वाच्य कर दिया और अमूर्त को अत्य शब्द वाच्य कर दिया गया यदि है वो एक तथा अमूर्तों में प्राण आत्ता सर्वमेव ये इसलिए जो कुछ भी आद्य है आद्य है खाने योग्य माना जा रहा अन्न है वो भी वास्तव में आता ही है तो प्रजापति रही भाव से दृष्टिकोण देखोगे जो अत्रि अन्न विभाग सारा कह सारा क्या है रही है फिर विभाग दृष्टिकोण से कहा गया यह अलग है ये अन्न अन्न को रही कह दिया इसी प्रकार यदि उसकी आदित्य दृष्टिकोण से प्राण दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो कुछ भी सर में ही है प्राण के अलावा कुछ नहीं इसलिए जो अन्न है वो भी प्राण है जो अत्य है वो भी प्राण है लेकिन प्रभात से हम क्या कहेंगे अन्न से भिन्न जो अर्थात मूर्त से भिन्न जो अमूर्त उसको हम प्राण हत्या कहेंगे व्यवस्था कर लेंगे एक ही प्रजापति प्राण भी है अत्ता भी है अत्य दृष्टिकोण से सब कुछ अत्ता कह दिया जाएगा प्राण दृष्टिकोण से सबको प्राण कह दिया जाएगा लेकिन वास्तव में एक व्यावहारिक प्रभेद तो कर लिया है जो अत्रिभाव में है उसको हम प्राण कहेंगे अंत तो और अनुभाव है उसको रई कहेंगे उसी बात को बताने के लिए अमूर्तो भी प्राणो जो अमूर्त है प्राण जिसको आपने अत्ता करके कहा है वह भी क्या है वास्तव में सर्वमेव सब कुछ अत्ता ही है ये आद्यम जो आद्य है वह भी अत्ता है खाने योग्य इसके लिए मंत्र ला रहे इस बात को पसंद कथम मैंने दोनों में अभेद कर दिया अति अन्न भाव का अभेद है वास्तविक दृष्टिकोण से दोनों मिलकर के एक ही है वो प्रजापति है लेकिन अज्ञानी के लिए यह प्रभाव दिखाई देता है अथादित्योदय प्राचीन दिशम प्रवेशते तेन प्राचान प्राणाम रश्मि सन्निधत्ते यद दक्षिणाम यदीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्धम यदंतरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते अध आदित्य उदयन जिस समय उदय होता होता रहता है आदित्य सूर्य तो क्या करता है यद प्राचीन दिशम जो पूर्व दिशा में जाता है उनमें प्रवेश करता है वो प्रविशति तेरा तार किरणों के माध्यम से पूर्व दिशा को प्रवेश करने के बहाने से क्या करता है वो तेरा प्राचान प्राणान रश्मि समित उसे वह पूर्व दिशा के समस्त प्राणों को सर्वत्र व्याप्त किरणों के माध्यम से वो क्या करता है समस्त प्राणों को अपनी किरणों की में प्रवेश कर लिया है इसलिए कहते कर हाथ सूर्य भगवान का हाथ किरण को माध्यम माध्यम सबको पकड़ लिया इस पर आ गया उसका राशि में संबंध हो गया ना ग्रहण कर लिया उसे पूर्व दिशा के सकल प्राणों के साथ एक हो गया इसी प्रकार यह दक्षिणाम जो दक्षिण दिशा में है इसी प्रकार दक्षिण दिशा प्रवेश कर गया और दक्षिण दिशा विद्यमान सकल प्राणों को वह अपने सन्निधि में ग्रहण कर लिया अर्थात प्रविष्ट कर लिया और पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा में ऊपर में नीचे में ऊपर में और अवान्तर सभी दिशाओं को भी यद अंतरा दिशो मैंने आग्नेय ना नैत्य वायव्य इंद्र तो ईशान्य ये जो अंतर दिशाएं हैं इन दिशाओं में भी वो प्रवेश कर गया और उन दिशाओं में विद्यमान वस्तुओं को भी वो अपने से प्रकाशित करने के माध्यम से उनको ग्रहण करने के समान ग्रहण कर लिया है तेन सर्वान रश्मि समिधते जिसने वह समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है सभी प्राणों को प्रकाशित करता है उस माध्यम से वह अपने ही किरणों के द्वारा समस्त प्राणों को धारण कर लिया मान लो संधि सम्यक प्रकार निद्राम धत्ते समय प्रकार से निरंतर धारण किया हुआ रहता है तदादित्य उदयन उद्गछन हो जादित्य उदय में उद्गछन उदय होते हुए प्राणिराम चक्षु गोचरम आगछन सकल प्राणियों के चक्षु का विषय होते हुए प्राजत प्राचीन दिशम सब प्रकाशेरा प्रविशति व्यापनौती वो अपने किरण के माध्यम से प्रकाश के माध्यम से <coughs> पूर्व दिशा को व्याप्त कर ले रहा है तेल स्वात व्याप्तिया दार्श किरणों के माध्यम से प्रकाश मार्ग के द्वारा व्याप्त होते हुए स्थान प्राणांताक्षम समस्त उस दिशा विद्यमान प्राची दिशा विद्यमान सरल प्राणों को अंतर्भू भूतान रश्मिशो सबको क्या कर लिया उसने अंतर्भूतान करके भी पाठ है कहीं अंतर्भूतान प्राची दिशा में जो अंतर्भूत है और कहीं पर पाठ अन्न भूतान भी है प्राचीन दिशा विद्वान अन्न है उस अन्न के साथ ऐक्यता करते हुए वह जीव मैंने अत्ता और अन्न दोनों के साथ वो भूत होकर दोनों ही वही हो गया पाठ अन्न भूतान अतः अंतर्भूतान प्रशंस स्वात्माभास रूपेश व्याप्ति मत्सो स्वात्माभास रूपा व्याप्तिमान वस्तुओं में क्या करता है हाँ, व्याप्ति वत्सो अपने प्रकाश के माध्यम से व्याप्ति वाले होते हुए व्याप्त प्राणी न समझते व्याप्त होने के कारण से उन प्राणियों के साथ उन प्राणियों को एक तरह प्रकार से धारण कर लिया सन्निधत्ते और कहते हैं सन्निधि मैंने सन्निवेश अपने अंदर प्रवेश कर लिया या स्वयं उसका प्रवेश कर गया आत्मभूतान करो दी मन स्व अभिन्न स्वरूप कर लेता है स्व से उसको अभिन्न स्वरूप कर लेता है आपको केवल दृष्टि से नहीं कर पाएंगे आपको तो हाथ चलाना पड़ता है फिर उसको अंदर ला डालना पड़ेगा नहीं रोटी को तब तो आत्मभूत हो जाता है शरीर आत्मक हो जाता है और वो केवल अपने प्रकाश के माध्यम से आत्मबोध कर लेता है से अनन्य भाव को प्राप्त करा दिया समस्त पूर्व दिशा विद्यमान अन्न और अत्ता तो अन्न और अत्ता ये सब कुछ जो कुछ प्राचीन दिशा में है वह सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से उन ही भूत कर दिया स्व से अभिन्न कर डाला आत्मभूत कर दिया है आत्मभूतान करो दी तथा इसी प्रकार से यद प्रवेश दक्षिणा यद प्रतीचि में मत ऊर्धम यद प्रवेश चंद्रा दिश भाष्यकार ने एक शब्द छोड़ दिया दादा ये दादा पिता ना वहां पर हाँ? उसको छोड़ दिया ऊर्दम ने अदय है ये उदीन अध ऊर्दम इकट्ठा ले लिया हो यद तो बार बार बोला नहीं तो यद उदीचिम अध ऊर्धम यद प्रविशति इस प्रकार से ये दिशा मैंने कोण दिशो अवान्तर दिशो कोण दिशाएं होती हैं अवान्तर दिशाएं हैं तो उन दिशाओं में भी वह अपने रश्मियों से प्रकाश के द्वारा व्याप्त होते हुए उस दिशा विद्यमान विद्यमान सकल त्रिअन्न भाव को आत्मसात कर लेता है यज्ञ सर्वम प्रकाशेती और क्या गिनाया जाए आपको ये नहीं गिनाया वो नहीं गिनाया कहते गिनाया नहीं ऐसे कोई मत जो कुछ भी है सब कुछ यम सर्वम प्रकाशयति तेरा स्व प्रकाश व्याप्त्या इस प्रकार वो अपने प्रकाश की व्याप्ति के द्वारा सर्वान सर्वाधिक स्थान प्राणान रश्मि सकल दिशाओं में विद्वान प्राण और प्राण के द्वारा ग्रहण करने योग्य अन्य इन सभी को अपने रश्मियों में एक तरह से प्रकाश में ही धारण कर लिया है और उसका प्रतिशलिंग कैसा होगा एक तो हो गया संबद्ध हो रहा है आपके आंखों के दिख रहा है ये तो यहाँ है वो वहां है आपके कहा आपने कह लिया भाई रश्मियों के द्वारा वो आपने ऐसा आत्मसात कर लिया फिर आत्मसात तो हो नहीं रहा कोई यहाँ अलग है वो अलग ही दिख रहा है सॉरी क्या अभिमान करना होगा ना जैसे जो है कोई बड़ा कोई नेता है या कोई है स्टेज पर खड़ा है लाख आदमी जो है उसको अभिवादन कर रहे हैं और वो भी दोनों हासियों कर देता है लेकिन क्या उसकी दृष्टि सबके साथ संबंध हो रहा है क्या सभी को आत्मसात कर ले सकता है लेकिन आपकी जो जनता के विचार है सभी सोच रहे वो मेरे को भी कह दिया है मेरा आज अभिवादन स्वीकार कर लिया आप अपनी भावना करते रह जाएंगे लेकिन उसने किसी को ना देखा बस उसको भीड़ दिख रही हाँ कर लिया उसने <laughs> मतलब नहीं किसी विषय से क्या लेन देने उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होता है तो फिर भी आप भी मान लेंगे और वो भी कहेगा अरे इतनी जनता मेरे अभिवादन किया और मन ने सबका विवादन कर दिया है वो भी ऐसे मान लेता है यदि विशेष रूप में किसी को न देखा न किसी को ग्रहण किया न किसी का अभिवादन स्वीकार हो रहा है ना कुछ हो रहा है लेकिन सामान्य रूप में सभी मानेंगे हमने उनका विवादन दिया और वह भी मान लेगा सभी का विवादन मैंने स्वीकार कर प्रत्यवादन कर दिया सामान्य रूप में व्यवहार होता है ना वहां भी उसी प्रकार यहाँ पर भी सामान्य रूप में व्यवहार तो हो रहा है फिर सूर्य ने अपने प्रकाश को व्याप्त करके सभी वस्तुओं के तरह ग्रहण करने के दौरान प्रकाशन द्वारा ग्रहण कर लिया है लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग जगह पर ही है न ये वहां दिन हो गए ना वो यहाँ दिन हो रहा है आप तो सब कहा हो रहे हैं लेकिन वो मान लिया सूर्य ने मैंने सबको प्रकाशन करने के माध्यम सबको मैंने अपने आत्मसात कर लिया और आगे मान लेते हो सूर्य की बड़ी कृपा हो गई आज प्रकाश निकल गया वह अपने प्रकाश से मुझे जो स्वीकार कर लिया है मैं उसको प्रणाम करता हूँ तो जल भी चढ़ाता हूँ सबको मान लेते हैं स्वीकार हो गया है या नहीं लाखों लोग एक साथ जल चढ़ा रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं सूर्य को लेकिन कौन किसका आपके साथ हो रहा है इसलिए प्रत्यक्ष रूप में ऐसे कोई बताओ जहां वो आत्मसात हो रहा है तो वो दृष्टांत भी देकर समझाएंगे तस्य प्रत्यशत्व शेष विश्वानरो विश्व रूप प्राणो अग्नि इच्छा अभ्युक्तम वह जो वह जो अत्ता जो प्राण है वही क्या है वैश्वानरो सर्वात्मा है विश्वरूप विश्वात्मा होने से विश्व धारण भी करके सर्वात्मा में से सगरूप वही उसी का है और सगरूप होकर के क्या करता है अग्नि सन्नोदय वही प्राण है वही अग्नि होकर इस शरीर के अंदर हम सब का प्रत्यक्ष हो रहा है यदि वह अग्नि रूपेण अंदर ना होता यदि वह आत्मा प्राण रूपेण अंदर ना होता न ये शरीर जिंदा होता ना आप खाए हुए चीज को पचा ही सकते थे इसलिए स्पष्ट ही हम सबका अनुभव है कि अंदर में अग्नि है और प्राण रूप में विद्यमान है इस रूप से जब हमारे शरीर में व्याप्त है तो सकल शरीरों में व्याप्त है ही जिस प्रकार सभी शरीरों में व्याप्त है उसी प्रकार पेड़ पौधा पत्थर वत्थर मिट्टी सभी में व्याप्त हो रहा है प्राण रूपेणा न रूपेणा इसमें कोई अग्नि रूपेण इसमें कोई संशय नहीं है इसलिए कहते हैं सयेश वैश्वानरो वैश्वानर अपने सर्वात्मा विश्व रूप अतव नाना रूप सन प्राणश्च भूतवा उदयते उदगछति तदे तदृशाभ्युक्तम इस विषय में इस वस्तु को कथन करने के लिए यह मंत्र भी प्रमाण पूर्ण उपस्थित किया जाता है मंत्र भी इसी बात को प्रकाशित कर रहा है महाशिकार सयेश वक्ता मैंने प्राणो अत्ता सहेश से क्या है ना पूर्वोक्त जो अत्ता जो प्राण है आदित्य वही प्राण जो कहा गया था वैश्वान कर करते हैं सर्वात्मा विश्वरूप विश्वात्मा विश्वात्मा होने के नाते वो विश्वरूप ही भी है अनंत रूप वाला है प्राण अग्निश्च स एव अत्ता उदय वही अत्ता जो है ना सकल शरीरों उनके अंदर प्राण रूपेण और अग्नि रूपेण उदय को प्राप्त हो रहा है सत्यम सर्वाधिश आत्मसात कुर एक तरह से मान लो प्रतिदिन सकल दिशाओं में विद्यमान सकल वस्तुओं में प्रवेश करके आत्मसात करते हुए के समान उदय हो रहा है एक तो उत्तम वस्तु वह यह जो उक्त वस्तु है उस विषय में ऋषा मंत्रेणाप्यभ्युक्तम मंत्र के द्वारा भी कहा गया है क्या कहा गया है विश्व रूपम हरिणं जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तबंदम सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानामुदेश सूर्य रूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम दबंधम कहते हैं वह सर्वरूप है विश्व रूप में सर्वरूप है वो हरिण किरणों वाला है वो अनंत किरण वाला है हरि प्रति किरण वो हरिणम किरणों वाला और जात रविंद्रम जन्म जात ज्ञान से संपन्न है वो संपूर्ण तरंग आश्रय है परायणम ज्योति ज्योति स्वरूप है एकम मन अद्वितीय है और तबंतम तपते हुए उस सूर्य को ब्रह्म ब्रह्मवेत्ताओं ने क्या कहा है तो बता रहे हैं कि सास रश्मि ही शरदा यह सूर्य अनेकों किरणों वाला अनेकों प्रकार से शतदा वर्तमान प्रकार से वर्तमान तथा प्रजांग प्राण प्रजा नाम प्राण सा प्राण रूप से एश सूर्य उदयती यह सूर्य ही उदय हो रहा है ऐसे ब्रह्मताओं ने अपने आत्म स्वरूप से सूर्य को जान करके कहते हैं विश्व रूपम सर्वरूप हरणम रश्मिबंधम जात वेदसम जात जन्म जात ज्ञान निष्ठ पारायण सर्व प्राणाश्रयणम सर्व प्राणों का आश्रय ज्योति स्पष्ट रूप व्याख्या नहीं किया गया एकम इसका व्याख्या नहीं किया द्वितीय सर्व प्राणीण चक्ष भूतम अद्वितीय सगल प्राणियों के चक्षु के रूप में अद्वितीय भाव को प्राप्त है तपंदम ताप क्रिया कुर्वाण तकारात्मक क्रिया को करता हुआ तपते हुई स्वात्मा सूर्य सूर्यो विज्ञातवंतो ब्रह्मविदा ऐसे सूर्य को अपने आत्मरूपेण ब्रह्मविद्ता विशिष्ट विज्ञान वाले लोग विद्वान लोग कहा करते हैं सूर्य मैंने विदुषा विद्वान लोग जो विशिष्ट ज्ञान वाले पुरुष लोग ऐसे प्रवक्ता लोग उस सूर्य को इस प्रकार से जो स्वरूपा है रश्वाला है जात वेद है परायण है इस रूप से अपनी आत्मा को सूर्य रूप अनुभव करते हैं कौन ये विज्ञातवंता कौन है जिसको वो इस प्रकार से जान पाए थे तो सहस्र रश्मि अनेक रश्मि शक्ला अनेक प्राणी वेद वर्तमान प्राणी भेद से अनेक प्रकार प्रकट है जो प्रयाणाम प्रजाओं का जो प्राण स्वरूप है एश सूर्य उदय थी वही मैं जो आत्मा मैं जो आत्मा हूँ वो आत्मा ही बाहर सूर्य रूपेण उदय होता है और सगल प्राणियों में प्राण रूपेण सगल प्राणियों का प्राण रूपेण हजारों रश्मियों के रूप धारण करता हुआ अनेक प्रकार के शरीरों में व्याप्त हो रहा है ऐसा वो अपने ही आत्मा को सुर रूपेणा ब्रह्मता लोग भी ग्रहण करते हैं अर्थात वह जो प्रजापति है वह प्रजापति सूर्य रूपेण अन अत्रिभाव सर्वत्र व्यापक होते हुए भी अत्रिभावन विशेष रूपेण सकल शरीरों में प्रकट होता है ये इसका तात्पर्य हुआ चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्ति शब्दाणात्मा आदित्य तदेकम इसलिए कहा जाएगा कि निचोड़ काशिकार यह जो चंद्रमा कहा गया वही मूर्ति है वही अन्न है और जो अमूर्ति है वह प्राण है वह आत्मा है उसी को आदित्य भी कहा गया तद एकम वास्तव में दोनों ही एक ही है एतन मित्रम सर्वम कथम प्रजा कर और ये जो मिथुन है इन सकल प्रजाओं को कैसे उत्पन्न करते हैं प्रश्न तय तो था ये सारे प्रजा कहाँ से आ गए कैसे आ गए ये प्रश्न था अब प्रश्न के पहले भूमिका बांध दिया गया सृष्टि आरम्भ हुआ कैसे प्रजा कहाँ से आए कैसे आए तो बताया वो एक था एक में अद्वितीय ब्रह्म रूपा प्रजापति हिरण्य रूपण कल्प अधिक काल प्रकट हुआ और वह प्रकट होने के पश्चात जीवन कर्म फलों का ध्यान करते हुए वह अंड क्रमेण सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि निर्माण करने के बाद जो कुछ मूर्त है अन्न रूप है वही वास्तव में मूर्त अभिन्न है सर्वम अन्नम एवं अथवा सर्वम अत्ता एवं क्योंकि प्राण दृष्टिया देखोगे सर्वमत्ता एवं अन्न दृष्टिया देखेंगे सर्वमन्नम एवं फिर प्राविभाव को ध्यान में रखते हुए हम अत्यन्न भाव का मिथुन किया अत्यन्न भाव स्व और आदित्य चंद्र भाव या प्राण और जल का भाव जो है ये जो भाव के मिथुन है इस मिथुन ने समस्त को कैसे पैदा किया उसको बताने के लिए ही अगला मंत्र आरंभ होता है संवत्सरो प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै तत्ष्टा कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकम् अभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतो ऋषयः प्रया कामा दक्षिणम् प्रतिपद्यन्ते एष वैरै यः पित्र्याणः संवत्सर काल ही वास्तव में प्रजापति है संवत्सर का जो काल है क्योंकि सम्यक प्रकार है सर्वम अस्मिन वत्स्यति संवत्सरा सब कुछ इसी में ही वास्तव में रहता ही है जन्य जन्याराम जनक काला करके को नहीं इसी दृष्टिकोण से कहा जन्य जितने भी है पदार्थ इन सब का जनक काल है इसलिए कार ही प्रजापति है कि सभी को अपने पेट में वास करा लेता है सर्वम वत्स्यति संवत्सर अथवा कहते देखो वही काल रूपा जो संवत्सर है वही प्रजापति है तस्य आयने उसके दो आयन है उसके जो है दुवयन का नाम दक्षिणायन दूसरे का नाम उत्तरायन छह छह मास का दो विभाग है उसके काल के गति का दो मार्ग है अयन मन मार्ग अय तो अयन मीन्स मार्ग काल को अपने गति प्रदान करने के लिए वो दो मार्ग अपना लिया एक का नाम दक्षिण मार्ग दूसरे का नाम उत्तर मार्ग इस बार दक्षिणायन और उत्तरायण करके कहते भी व्यवहार में भी तो तो समझते हैं नहीं छह महीने के तो विभाग को नाम रख दिया गया छह महीने का नाम क्यों रखा छह महीना ये छह महीना वो क्यों क्योंकि उसका गति से संबंध है काल की गति जिसमें संसारी का प्रफल भोग की प्राप्ति होती है उस फल भोग का अनुरूप दो गतियों को कल्पना की गई है तदेह वही तद इष्टापूर्ति कृतम इत्युपास इसलिए जो लोग इष्ट और पूर्त रूप केवल कर्म मार्ग का अवलंबन किया करते हैं और दत्त को विग्रहण करना है इष्टापूर्त रूढ़ शब्द है दत्त विग्रहण हो जाए इष्ट पूर्त दत्त इनको जिस व्यक्ति ने कर लिया कैसे किया कथम मया ऐसा ग्रहण कर लिया मैंने किया है वो व्यक्ति क्या करेगा ते वे लोग जो है चांद्र मसमे लोकम अभिजिंद वे मुथना प्रजापति का जो अंश अनुरूपा जो चंद्रलोक है उस चंद्रलोक को ही प्राप्त करते वो भी अनुरूप ही आद्यमान ही है और मुक्ति वाले का सवाल नहीं तय तो पुनरावर्तन इसलिए वे लोग क्या करेंगे वे ही पुनः पुनः उत्तमाधम योनियों में आवागमन किया करते हैं तस्मात इसलिए जो ऋषि लोग ये ते ऋषि प्रजा का वाह ये प्रजा को चाहने वाले गृहस्थ ऋषि लोग क्या करते हैं दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त करते हैं दक्षिण मृग दक्षिण मार्ग से प्राप्त करते हैं मतलब दक्षिण मार्ग से उपलक्ष्य जो चंद्रलोक उस चंद्रलोक को प्राप्त करने योग्य क्रियाक्रम कलापों को भी किया करते हैं इस प्रकार ये जो रही है ये क्या ऐसे पितृयान मार्ग है लोग पर्यंत फल प्रदान करने वाला मार्ग है इसलिए री दक्षिण मार्ग है वही अन्नमय मार्ग है उसी को पितृयान कहते हैं उसको दक्षिणायन भी कहते हैं अनेक नामों से कहा जाता है यह वास्तव में लौटने वाला मार्ग है तदेव काल संवत्सर वही प्रजापति वही जो प्रजापति है वो क्या है वास्तव में काल ही है संवत्सर ही है कैसे तो उत्तम निर्वर्तित प्रजापति के द्वारा ही निर्वत्य सिद्ध है यह संवत्सर अगर अच्छा, प्रजापति रूपी जो काल उस काल की गणना के माध्यम से ही यह संवत्सर की स्थापना होती है चंद्र आदित्य निर्वर्त निर्वर्त तिथि और समुदाय ही समत्सरा क्योंकि चंद्रमा चांद्रमास को लेके चलोगे तो चंद्रमा क्या करेगी अपनी तिथियों के माध्यम से महीना बना देते हैं और उस महीनों के माध्यम से संवत्सर बन जाता है प्रत्येक दिन को तिथि रूप बना दिया तिथि रूप से फिर पक्ष हुआ पक्ष से मास मास से ऋतु ऋतु से अयन अयन से संवत्सर और सूर्य को लेकर चलोगे कल आदित्य के द्वारा अहोरात्र समुदाय अहोरात्र कभी दिन रात के माध्यम से चौबीस घंटा को कर लिया और उस माध्यम से वो कर देता सप्ताह सात दिन की एक सप्ताह होता है सूर्य के आधार पर और फिर सप्ताह के द्वारा भी पक्ष वो भी करेगा पगवाड़ा कहते पगवाड़ा पखवाड़ा बोलते ना उसको पंद्रह दिन को हाँ, पक्ष तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है मास सूर्य मास होता है संक्रांति संक्रांति को गिनते ना कुछ लोग सौर मास जिसको कहा जाए फिर सौर मास से मेष आदि राशियों के आधार पर जिस लग्न में वो चला गया किस राशि में सूर्य जा रहा है उस हिसाब से मासों का नाम अलग हो जाता है ये तो चंद्रमा के हिसाब से नाम जो बोलते हैं फाल्गुन है इसमें जो बोलते हैं और फाल्गुन नक्षत्र संबद्ध है चंद्रमा जिस दिन उस दिन का अर्थ को हम कहते फाल्गुनी पूर्णिमा उसे फाल्गुन मास ये जो मासों का नाम ले रहे हैं ये चांद्रायन मास है सौर मास आपको कहना पड़ेगा मेष वृषभ ही नाम होगा मेष मास है वृषभ मास है मकर मास है नहीं मासों का नाम राशि के नाम से ही हो जाता है जिस राशि में सूर्य चढ़ता होगा उस राशि से ही उस महीने का नाम पड़ जाता है तो सौर माप कहे जाते हैं तो दोनों प्रक्रियाएं आज के भारत देश के अंदर आप दोनों प्रकार के जो है मान्यताओं को अनुभव करते हैं इसलिए चंद्र निर्वर्त तिथि और आदित्य के निर्वर्त और इसी समुदाय का ही अंत स्वरूप क्या हो गया संवत्सर तर अन्य उससे अभिन्न होने के कारण रही प्राण मिथुनात्मक उच्चते उसी को हम रही प्राण मिथुनात्मक रूप से हम कह देते हैं तत्कथम इन्हें से कैसे कह देते हो करे तत्से संवत्सर से प्रजापत प्रजापत्र मार्गो दौ दक्षिणम चौत्र उस संवत्सर भी प्रजापति का दो मार्ग चलने का एक मार्ग का नाम दक्षिण दूसरे मार्ग का नाम उत्तर द्वे प्रसिद्ध ही अयन है और दुनिया में प्रसिद्ध है अयन क्या क्षणमास लक्षण क्षणमास लक्षण वाला दो है ना लोक व्यवहार में भी प्रसिद्ध है यह ध्यान दक्षिण उत्तरण चाहिए आपकी सविता जिस दक्षिण दक्षिण उत्तरायण के माध्यम से दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर अधिक झुकाव करते हुए सूर्य चला करता है केवल करण ज्ञान संयुक्त क्रमदांच लोकान विदत्त कैसे बचाओ क्यों ऐसे चल रहा है केवल कर्मियों को और उपासना युक्त ज्ञान संयुक्त में उपासना ज्ञान का तो बात समझ रहा उपासना संयुक्त क्रमदांच लोक लोकान विद्युत उपासना संयुक्त करवाए वाले लोगों को अपने अपने फल प्रदान करते हुए केवल कर्मियों को दशान मार्ग है और कर्म विशिष्ट उपाकरण जो करेगा उसको उत्तरायण मार्ग देते हुए मानव एक तरह से सूर्य गमन किया कर रहा है वह भी कैसे कथम कथम तक तत्व ब्राह्मण ऋषि हवई बाहर बाधे इसलिए ब्राह्मण आर्यों ने जो कोई लोग उसको उपासना करते हैं क्या उपासना करते हैं क्रिया विशेषण द्वितीय शब्द दो शब्द है तत् ये हवई तत् इष्टापूर्त मंत्र में दो बार तक तो शब्द आया पहले वाला तत्कार तत्र ऐसा हो गया दूसरे वाला तद क्रिया का विशेषण पहले वाला तत्कार तत्र ब्राह्मण ब्राह्मणादिशो ये जो लोग वही तत्पात है वो तब जो उपासन से जुड़े क्रिया विशेषण बना देना तब इसी क्रिया विशेषण द्वितीय शब्द क्या उपासना कर रहे हो इष्टंज पूर्तंज इष्टापूर्त श्लोक भी दिया नीचे इष्टापूर्त का अर्थ हम समझेगा अग्निहोत्र तबा सत्यम वेदानाचारपालनम आदित्यम वैश्वेव इष्टम नित्य विधीयते वापी कूपतड़ागादि देवतायना च अन्न प्रदान पूर्त नित्य विधीयते दत्तम आदि शब्द लेना पड़ेगा दत्तम क्या है नीचे टिप्पण कर दिया तीन नंबर शरणागत संतारम भूताराम चाप्य हिंसम बहिर्वेदी चीयदानम दत्तम नित्यत इष्ट पूर्ता दत्त इष्ट क्या है अग्निहोत्र अनुष्ठान करना नित्य अग्निहोत्र करना है अनेक प्रकार की तपस्या जो में कहा हुआ सत्य बोलना और वेदों का नित्य स्वाध्याय के साथ तब अन्य कर्मों का कामना पूर्वक अनुष्ठान करना आतिथ्यम अतिथि सेवा वैश्वेव और वैश्वेव बलि कहते हैं ना वैश्वेव बलि जो चिड़ियों को सब जानवर वगैरह अलग किया जाता है तो उन चीज को इसको करने वाले का नाम ये सब क्या रहा है कर्म इष्ट ऐसे करने वाला इष्टि वह पुरुष केवल कर्मी कहा जाएगा और वापी कूप गादी वापी कूप तड़ा वापी मैंने बड़ा कुआ गांव के लोग ले कूप मैंने छोटा कुआ तड़ाक मैंने बड़ा तड़ा इत्यादि इस प्रकार जलाशयों का निर्माण करना जलागारों का निर्माण करना और देवता इतना नीचे मंदिरों का निर्माण करना अन्न प्रदान भंडारा करना आराम विश्राम गृह का निर्माण धर्मशालाएं निर्माण करना इसी को कहते हैं पूर्त मित्य विदित ऐसे कर्म को पूर्त कर्म ऐसे कर्मों करने वाला पूर्ति और दत्तकर्म क्या है शरणागत संतराम जो शरणागत है उसको समय प्रकार से अक्षण अच्छा दिया आपने भूतारा जब हिंसनम भूतों की अहिंसा किसी भी भूत की किसी प्रकार की हिंसा खाया चमन अच्छा सा न करना बहिर्वेदी जो यदानम अयज्ञ जो दान पुण्य करते हैं उस दान इस प्रकार के तीन कर्म को दत्त कर्म कहते हैं और इन कर्मों को करते वक्त उपासना के बिना करना वो केवल कर्मी कहा जाएगा और इन्हीं कर्मों को उपासना के साथ करेगा तो वो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी हो जाएगा और केवल कर्मी नहीं है वो उपासक है तो उपासना से किया अब भंडारा कर रहे हैं ठीक है कर दिया चला दिया पिला दिया चला गया ऐसे नहीं ये मानिए कि भाई जितने को हमने बुलाया है ये साधु वेशधारी या असाधु वेशधारी है ना ब्रह्मचारी पेंट शर्ट वाले भी आ जाते हैं सर भगत जगत भी आ गए हैं जो भी आए ये सब नारायण रूप ही है यह मान करके सहस्र नाम का पाठ करते हुए सबके को तिलक लगाया जाए और तत्व रूपिण भावना करते हुए भोजन खिलाया जाए फिर तो परमात्मा को ही विश्वम्भर परमात्मा को खिला रहे हैं बहुत बड़ी उपासना हो गई वो कठिन तो है क्या करने वाले को हमने देखा भी है ऐसे भी करते हैं दक्षिणामूर्ति मठ में एक भंडारा देता है पंडित मैंने है तो पंडित नहीं है बनिया है लेकिन जो है बिल्कुल ब्राह्मण जैसी जीना जो सब पाठ पूजा वगैरह सब कुछ विधि विधान स्वाध्याय सब करता है जब भंडारा देगा तो महात्मा को बुलाएगा हजार महात्मा को निमंत्रण देगा उसे और कोई नहीं देखेगा रेस पेश संप्रदाय संप्रदाय से कोई उसका मतलब नहीं सब विष्णु रूप ही है आप साफ नाम पाठ करते हुए